हम्म, ने को सोचते हुए विक्रांत से कहा वैसे ये जो कुछ भी बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है कौन जाने हमारे पास कोई सबूत या गवाह तो है नहीं जो ये कह रहा है वही मानना पड़ेगा पता नहीं सच बोल रहा है या झूठ मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा रघुराज ने बीच में ही बोलते हुए कहा देखो मैडम मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मैं और यकीन ना हो तो आप मेरी जिंदगी की एक एक घटना सुन के सारी कहानी समझ सकते हैं और और मेरे बाप के बहुत सारे दोस्त भी थे अगर हमारा बिजनेस ठप भी हो गया था तो भी हम इस तरह से बर्बाद नहीं होते ये सब रमाकांत अग्रवाल का ही किया हुआ है उसने ही हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया अब ये सब कहना तो बहुत मुश्किल है विक्रांत ने अपनी भवें टेढ़ी करते हुए कहा तुम्हारे बाप ने भी तो कई शादियां की थी और उसके कई बच्चे भी थे कर्म तो उसके भी बहुत अच्छे नहीं थे रघुराज ने गुस्से से भरी निगाहों से विक्रांत को घूरते हुए देखा लेकिन फिर अगले ही पल उसके चेहरे का भाव बदल गया और फिर उसने कहा साहब आप मेरा यकीन करो मैं मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ आप आप इस हरामी रमाकांत से पूछताछ कीजिए पक्का आपको कुछ ना कुछ मिलेगा इसने बहुत सारे कांड किए हैं आप बस इसको पकड़कर पूछिए वो बहुत डरपोक है एक बार में ही सब कुछ बता देगा क्या क्या डरपोक अचानक से विक्रांत का ध्यान इस शब्द पर आकर टिक गया अगर रघुराज की बात सही है और वो सच में इतना हरामी और डरपोक है तो फिर एक बात की और भी संभावना अचानक ही विक्रांत के दिमाग में कुछ बात आई और उसने रघुराज की तरफ देखते हुए सवाल किया रघुराज एक बात बताओ ये रमाकांत अमीर कब बना मतलब अचानक से अमीर बना था या फिर शुरू से ही अमीर था रघुराज से ये सवाल करते हुए विक्रांत के रोंगटे खड़े हो गए नैना भी विक्रांत का मतलब समझ चुकी थी कि वो रघुराज से ये सवाल क्यों कर रहा है तो वो विक्रांत की तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी मुझे नहीं पता रघुराज ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया उसके शब्दों में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी ये शायद उन्नीस या उन्नीस की बात है ये सब बहुत अचानक से हुआ था उससे पहले तो कोई उसका नाम भी नहीं जानता था अचानक ही उसने अपना बिजनेस पूरे महाराष्ट्र में फैलाना शुरू कर दिया एक के बाद एक नई बिल्डिंग मटेरियल की शॉप खोलने लगा था और उस वक्त उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरे बाप के बिजनेस को कैसे भी करके बर्बाद कर दो मेरे पिता की एक दो बार तो उससे बहस भी हुई थी लेकिन मुझे अब ज्यादा ढंग से कुछ याद नहीं है कि फिर क्या हुआ था विक्रांत पीछे मुड़कर नैना की तरफ ध्यान से देखने लगा वो दोनों एक दूसरे को कुछ पल तक यूं ही देखते रहे मानो वो नजरों से आपस में बात कर रहे ये सही नहीं है नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा रमाकांत अग्रवाल का जन्म मुंबई में हुआ था और वो अपनी पूरी जिंदगी मुंबई में ही रहा और यहाँ पुसारी से विक्रांत ने कुछ जवाब नहीं दिया लेकिन वो कुछ बड़ी गंभीरता से सोच रहा था नैना भी कुछ पल तक शांत खड़ी रही वो विक्रांत को सोचने के लिए पूरा वक्त दे रही थी लगभग दो मिनट की शांति के बाद दोनों की नजरें मिलना बंद हुई और फिर वो इंटेरोगेशन रूम से तेजी से बाहर निकल आए इंटेरोगेशन रूम से बाहर आने के बाद विक्रांत ने देखा कि वहाँ कोई और मौजूद नहीं था तो उसने थोड़ी तेज आवाज में नैना से कहा ताकि नैना तक उसकी बात आसानी से पहुंच सके मुझे लगता है कि अब राघव को थोड़ा ओवर टाइम करना होगा हम्म, नहीं ये रमाकांत काफी फेमस आदमी है उसके बारे में पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो नैना ने जवाब दिया और हाँ मुझे लगता है कि अब हमें एक दो दिन के लिए मंजू का केस छोड़ देना चाहिए अभी हमारे लिए ये अर्जेंट है हाँ मैं भी यही सोच रहा था विक्रांत ने जवाब दिया वो मन ही मन सोच रहा था कि देखता हूँ नैना तुम कब तक मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करती रहोगी वो दोनों वापस रघुराज के पास पहुंचे और उससे कुछ और भी सवाल जवाब किए लेकिन उन्हें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिला फिर वो दोनों वापस डी नगर पुलिस स्टेशन आ गए अब तक शाम के सात बज चुके थे और ऑफिस से ज्यादातर लोग घर के लिए रवाना हो चुके थे विक्रांत ने ऑफिस के भीतर घुसते ही मार्कर उठाकर अपने व्हाइट बोर्ड पर रमाकांत अग्रवाल और अशोक का नाम लिख दिया विक्रांत मार्कर से इन दो नामों के बीच राउंड राउंड करते हुए बोला क्या पता ये दोनों बंदे आपस में कनेक्टेड हों अगर ऐसा है तो फिर तो काफी इंटरेस्टिंग केस हो सकता है हमें फिर से इन दोनों को इन्वेस्टिगेट करना होगा जब विक्रांत खुद से ये बातें कर रहा था तब तक नैना के पास रमाकांत अग्रवाल का पूरा डेटा आ चुका था रमाकांत मुंबई का पूरे देश का काफी जाना माना नाम है बिजनेस वर्ल्ड में उसका बहुत नाम है जितनी तेजी से उसने तरक्की की है वो वाकई में चौंकाने वाली है इसलिए उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत बड़ी बात है बस इंटरनेट पर उसका नाम टाइप करने की देर है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ गई रमाकांत की हिस्ट्री देखने के बाद पता चला कि वो पहले मिलिट्री में काम कर चुका है और कुछ दिन तो उसने पुलिस में भी नौकरी की है बहुत बाद में वो बिजनेस के फील्ड में उतरा लेकिन उतनी ही जल्दी उसका नाम मुंबई शहर के सबसे बड़े व्यापारियों की लिस्ट में आने लगा रमाकांत पहले मिलिट्री में काम कर चुका है और फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट में भी नौकरी कर चुका है इसका मतलब उसे पुलिस के काम करने का पूरा तरीका पता है रैना मन ही मन सोच रही थी कि इस हिसाब से रमाकांत की भूमिका काफी संदिग्ध लग रही है सबसे पहले वो बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस में उतरा था और फिर वहां से वो बिल्डर बना और फिर धीरे धीरे एक के बाद एक कई सारे बिजनेस शुरू कर दिए इस वक्त उसका सबसे बड़ा बिजनेस अग्रवाल कॉरपोरेट के नाम से मशहूर है और इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वो अपने सारे धंधे हैंडल करता है विक्रांत ने रमाकांत की पूरी हिस्ट्री ध्यान से देखी तो पता चला कि रमाकांत ने साल उन्नीस में बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस को शुरू किया था और फिर उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है उसने बहुत अयाशी भी की है साल उन्नीस मतलब कि किडनैपिंग केस के दो साल बाद अचानक से रमाकांत के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि उसने नया बिजनेस ही शुरू कर दिया एक पुलिस वाले या मिलिट्री वाले के पास तो इतने पैसे होते नहीं कि वो अपना नया धंधा शुरू कर दे राघव जतिन सुनिधि के साथ ही टीम बी के भी ऑफिसर देव और अमित भी इस वक्त ऑफिस में पहुंच चुके थे इन सभी को विक्रांत ने यहाँ पर केस के बारे में डिस्कशन करने के लिए बुलाया हुआ था ये केस बहुत बड़ा था और विक्रांत अकेले नैना के साथ मिलकर इस पर काम नहीं कर सकता था इसीलिए उसने अपने खास दोस्तों को भी अपने साथ काम करने के लिए बुला लिया था क्योंकि ये किडनैपिंग केस बहुत इम्पोर्टेंट था और ये वक्त भी काफी क्रिटिकल था इसीलिए उन लोगों ने भी विक्रांत को मना नहीं किया और सिर्फ एक बार कहने पर ही सीधे ऑफिस पहुंच गए वैसे नियम के अनुसार किसी भी केस पर काम करने से पहले विक्रांत को अपने सीनियर को केस की सारी अपडेट देनी होती है लेकिन विक्रांत ने अभी तक इसके बारे में किसी भी सीनियर को इन्फॉर्म नहीं किया था उसने ना तो पुष्कर को बताया ना चेतन को और ना ही संगीता को इसकी जानकारी दी पुष्कर की तो कोई बात ही नहीं है उससे तो विक्रांत का छत्तीस का आंकड़ा रहता है लेकिन उसने चेतन को इसलिए नहीं बताया क्योंकि ना जाने क्यों उसके यहाँ आने के बाद से विक्रांत को थोड़ा अजीब लग रहा था अब टीम ए के भीतर का भी माहौल पहले जैसा नहीं रहा हालांकि चेतन का व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा है आज तक उसकी किसी के साथ कोई बहस तक नहीं हुई है लेकिन वो काम के मामले में बहुत सीरियस रहता है काम के समय वो किसी की नहीं सुनता और हर डिसीजन खुद से लेता है इसी वजह से विक्रांत ने चेतन को इस केस के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर चेतन उसकी कोई बात नहीं सुनेगा और वो सारे डिसीजन खुद से ही लेगा फिर विक्रांत इस केस में बस एक छोटा सा सिपाही बनकर रह जाएगा